महर्षिदयानंद प्रणीतस्य आर्यावीनग्रन्थस्य प्रथमप्रकाशस्य चतुष्टोमन्त्रः पठिष्यते व्याख्यास्यते च महर्षिदयानन्द प्रणीत आर्यावीनग्रन्थ प्रथम प्रकाश का चौतीसवा मंत्र पढ़ा जाएगा और उसकी व्याख्या भी की जाएगी ओम सहस्रवे सहस्युभावी वग्रह

प्राणो व वत्सम इत्यादि सप्तदादि का प्रमाण है अतएव दस चूहा दुष्ट पापी लोगों का खनन करने वाले हो भीमह आपकी न्याय आज्ञा को छोड़ने वालों पर भयंकर भय देने वाले हो सहस्त्र सीता सहस्त्रों विज्ञान आदि गुण वाले आप ही हो शत नीचा सैकड़ों अहंकार पदार्थों की प्राप्ति कराने वाले हो युवा अत्यंत विज्ञान आदि प्रकाश वाले हो और सबके प्रकाशक हो तथा महान व महाबल वाले हो न जम रेशा किसी की जम सेना में वस्तु प्राप्त नहीं होते हो सबता पांचजन्य स्वल से आप पांचजन्य पांच प्राणों के जनक हो मरुत्वान सब प्रकार के वायुओं के आधार तथा चालक हो तो आप इंद्र हमारी रक्षा के लिए प्रवृत्त हो जिससे हमारा कोई काम न मिले पदार्थ है लेने का उसको वज्र नाम के होंगे ईश्वर अत्यंत बलशाली और जैसे वज्र बिजली पहाड़ पर गिरती है तो पहाड़ को भी तोड़ती है ईश्वर को जो व्यक्ति बहुत बलशाली समझता है बलवान समझता है वह व्यक्ति पापों से बचता है और उपनिषदकार के शब्दों में कहा ये जो ईश्वर जो है वज्र हस्त इसके हाथ में वज्र है भयंकर ऐसा जो ईश्वर को जानता है वो सारे बंधनों से की मौत को प्राप्त होता है ईश्वर को दंडदाता न्यायकारी राजा की तरह उपस्थित समझता है वज्र हस्ता है दंड देने वाला है ईश्वर छोड़ेगा नहीं मुझे ऐसा जो व्यक्ति मानता है वो सारे बंधनों से छूट जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है जब भोजन खाने बैठते हो नियम है कि बोलना नहीं जब हम चले जाते हैं तो कुछ मौन रह जाते हो और जब नहीं रहते तो क्या करते हो कथा पर कथा बात पर बात कबूतरों की तरह कबूतरों को देखा नहीं आते इतना ही अंतर है बातचीत करते हो कबूतरों की तरह से लड़ाई नहीं करते कबूतर लड़ाई करते हैं हम नहीं करते जहां बीस पचास चालीस सौ कबूतर बैठे हों उसमें कितनी लड़ाइयां हो रही होंगी उस समय पचास कबूतर बैठे हों तो आठ दस लड़ाई लगातार लगभग चलती रहती है अधिक क्यों नहीं लड़ाई चलती रहती तो फिर आ गया कौआ एक कौआ और कौवा जब आ गया तो कबूतर जो थे पचास सौ उनके अंडे भी थे वहां और वो अंडे की ओर आगे बढ़ा और इनकी लड़ाई बंद हुई लड़ाई भी बंद कर दी और कबूतर अंडे खाने वो कौवा अंडे खाने लगा और ये ऐसे भुगते भक्त की तरह गए ये हाल है तो कबूतरों की जाति की तरह उनका उनका अनुकरण मत करो खा जाएगा या बच्चे खा जाएगा वो एक पतला दुबला कौआ ये पचास सौ बैठे बैठे थे और छोटी सी चिड़िया देखी आपने काली चिड़िया छोटी एक दो होती है और कौए के नाक में दम कर देती है दो छोटी छोटी होती है उसके अंडे खाने आ जाए आकाश में नहीं छोड़ती पाताल में नहीं छोड़ती पीछे से मारती है भाग जाती है पीछे से मारती है भाग जाती है छोटी छोटी चिड़िया तो आप ध्यान दो जब आप अकेले होते हो वहां बैठे हुआ भगवान के करते होते तो हमारे जाने की क्या जरूरत थी बोलो इसका मतलब क्या निकला ईश्वर को वज्र हस्त आप नहीं मान रहे इसलिए बात करते हो किसी ने सुनाया वहां साबुन रखा था उन्हें उठा के कमर कपड़ा दौड़ाया अरे साबुन वाला वहां खड़ा होता तो वो ना साबुन उठाता ना कपड़ा उठाता आप भी ऐसा करते होंगे या नहीं करते तो प्रत्येक व्यक्ति जब ईश्वर की व्यवस्था से डरता है कि मैं मन से वाणी शरीर से जो कुछ काम करूंगा काम ही नहीं बल्कि योग करना चाहिए जैसा मेरा ज्ञान रहेगा जैसा मेरा कर्म रहेगा जैसी मेरी उपासना रहेगी तो तदनुरूप फल मिलेगा उससे कुछ छूट नहीं सकता ईश्वर खड़ा खड़ा देखता जो व्यक्ति ऐसा जानता मानता समझता है वो निश्चित रूप में सारे दुखों से छूट के मोक्ष को प्राप्त करता है प्रारंभ में ज्ञान में गड़बड़ बचती है ज्ञान विपरीत होता है फिर मन में आता है फिर कर्म में आता है ईश्वर को न्यायकारी दंडदाता न छोड़ने वाला मानना चाहिए इससे हमारे पाप छुटते हैं हमारी अज्ञानता दूर होती है हमारी अनुचित उपासना छूट जाती है अर्थात जब हम अनुचित उपासना करते हैं तो ध्यान आता है मैं ईश्वर की उपासना को छोड़ के अन्य की उपासना कर रहा हूं मुझे दंड मिलेगा वो व्यक्ति उस उपासना को छोड़ देता है जिस समय व्यक्ति का ज्ञान विपरीत काम करने लगता है वो देखता है मेरा ज्ञान ईश्वर के ज्ञान के विपरीत जा रहा है मेरी मान्यता उसकी बन रही है इसका दंड मुझे जरूर मिलेगा वो उल्टे ज्ञान को हटा देता है फिर वास्तविक ज्ञान को सामने रख के चलता है इसी प्रकार के कर्मों को जब करता है गोरों को तो वो जानता है कि ईश्वर इसका दंड देगा बुरे कर्म को छोड़ देता है अच्छे कर्म करता है ये ज्ञान कर्म उपासना जन भर व्यक्ति के साथ ऐसे जुटे रहे जो ज्ञान कर्म उपासना को इसी दृष्टि से देखता है वो इन बुराइयों से बचता है और ईश्वर की प्राप्ति जोड़ा मिल जाता है अब इसमें दूसरी बात कही दुष्टों का नाश करने वाला अब ये बात समझ में कम आती है कि दुष्टों का नाश कैसे चलता है जिन लोगों ने नहीं समझा उन्होंने ये माना कि दुष्टों का नाश करता है अवतार लेकर के ये व्याख्या चलती लाखों नहीं करोड़ों लोग ऐसा मानते हैं दुष्टों का जो नाश करना होता है तो ईश्वर अवतार लेता है और वो शरीर धारण करके उनका नाश कर देता है ऐसा लोग मानते हैं परंतु ऐसा नहीं है सबसे पहली बात तो यह है कि उनकी मान्यता के अनुसार दुष्टों का नाश ही करना मान लिया जाए तो ईश्वर को शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं है इतने से ही सब कुछ कर सकता है यदि ऐसा मान लिया जाए पर ऐसा सिद्धांत नहीं है ऐसा स्वीकार कर लिया जाए कि दुष्ट कर्म करने वाले चोर डाकुओं का ईश्वर सीधा नाश कर देता है तो ऊन के विनाश के लिए ईश्वर को शरीर धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी विद्यमान सर्वत्र स्थित रहता हुआ ही ईश्वर चाहे जो कुछ इनमें से कर सकता है कोई दूर भाग नहीं नहीं परंतु दुष्ट कर्म करते हुए चोर डाकू का ईश्वर कभी भी सीधा नाश नहीं करता अब नाश कैसे करता दुष्कर्म करते करते करते करते व्यक्ति खूब ओतप्रोत हो जाता है और जब उसकी मृत्यु होती है तो उसको सुअर गधा घोड़ा कीट पतंग जिन योनियों की गणना करनी मुश्किल है वो जीवनी में पड़े रहते हैं न सोच सकते न उनकी कोई उन्नति होती है बस काटते रह चक्कर अच्छा मनुष्य कितने आदमी हिंदा है पांच अरब जीवन पर कीड़ी और मच्छर मक्खी समुद्र आकाश पक्षी कितने हैं ये क्या कारण है हाँ ये बात कर्म करने वाले बहुत अधिक हैं इसलिए ये सारे के सारे चला रहे हैं कोई पता नहीं हम कहां पड़े खा लिया सो गए खा लिया सो गए कुछ पता नहीं भेड़ देखो बकरी देखो गदा देखो घोड़ा देखो सुअर को देखो हरुण हरुण हरुण करता रहता है और वो बारह में लगपत होकर के जो सो जाता देखा तो आप मुश्किल दिखाई देती मुझे लोग कहते थे सूर अपने में मस्त है और मनुष्य अपने में मस्त है बराबर फल है ठीक है ना वो ये कहते हैं सूअर बन जाए तब भेड़ बकरी बन जाए उसमें गधा घोड़ा बन जाए तब जितना सूअर योनि में सुख है उतना ही मनुष्य योनि में सुअर अपने में मस्त है और ये महान विद्वान पढ़ाने का अपनी में मस्त है ठीक है ना अरे देखो पढ़े लिखे को तो ये सोचना पड़ता है इतने बच्चे हो गए इनको पढ़ाना भी है इतने इतने कमरे इतनी कोठी वहां डॉक्टर इंजीनियर आचार्य बनाना विवाह करना और कबूतर को खाया और सो गया ना विवाह करना मैं वो बनाना अब कौन सा सुखी है क्यों जी ठीक है ना देखो ना कबूतर है खा के सो जाता है फिर उठ के दाने वाने मेरी जाते हैं फिर खेल हो गया और ये जो मैंने कथा सुनाई ये सुखी है कबूतर सुखी है अब आपने कभी विचार कुछ किया नहीं इसलिए उत्तर नहीं दे रहे देखो तुलना करो कबूतर और सुअर गधा घोड़ा मनुष्य के सुख की कोई तुलना नहीं जितना सुख मनुष्य योनि में है उसका किंचित मात्र अंश पशुओं में मिलेगा और कुछ भी नहीं दुख ही दुख सुख की मात्रा बहुत कम अभी व्याख्या का समय नहीं ध्यान देना जिस व्यक्ति का विकास हो ही नहीं सकता ज्ञान का विकास नहीं है खाने पीने का विकास नहीं चिकित्सा का विकास नहीं बाल की सहायता ले नहीं सकता वो वो क्या सुखी है और व्यक्ति पढ़ता पढ़ता यार पांच वर्ष का बच्चा हिंदी दिए पीएचडी और आकाश को खोल डालता वैज्ञानिक ऋषि परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है कबूतर कर सकता है लगाता कदा होना समाधि कभी उनकी आदत देखी थी आपने एक बार पानीपत पानीपत था ना और हमारे पानीपत वाले कहां है आए थे अच्छा, उसमें भाग लिया करिए अंदाम में बैठे इतना मोटा होते ही नहीं दिखाई <laughs> तो वहां प्रचार के लिए जाते घूमने के लिए जाते गली में जाते थे वहां का देर से भाग वो मिट्टी ढूंढते थे कुमार और कहीं मकान बन रहा होगा मैं झील को भरते हैं ना कदे हूं पूरे भर भर के कदे के पर बीच पर रख देते हैं चार पांच कदे जी मैंने भी थे मैं देखता रहता था मैं पढ़ता हूं आपको भी गधेों की तरह छोड़ता किसी को नहीं मैं पढ़ता ही रहता हूं आपको चलता दिख रहा हूं तो समझ रहा मैं आपको पढ़ रहा हूं आप क्या देखते हैं क्या सुनते हैं क्या सोचते हैं आपको देखता रहता हूं आप सोचते स्वामी जी वैसे ही घूम रहे ऐसे नहीं परीक्षा हो रही है आपकी तो वो गधे क्या करते वो परिचय करते रहते रहे आगे दो सटन और बोरा डाल दिया और मूर्ख उस पर जा रहा है पहले जा चुका है फिर भी गाय वाली जमीन पर चलता है वो भागता है डंडे वाला और छोटा का मारता डंडे वहीं पर दूसरी बार फिर बोरे ला दे फिर उसी पर फिर दो डंडे फिर उसी पर फिर दो डंडे अब देर भर डंडे खाता मिट्टी जोड़ता है बताओ गधे में कहां सूखे ये लोग नहीं समझते इसकी तुलना करो तो गधा घोड़ा कुछ भी नहीं है ये व्यक्ति मनुष्य शरीर में ऐसी नजनाड़ियां हैं कितना वैज्ञानिक बन जाता है आश्चर्यजनक विज्ञान की खोज ऋषियों ने परमात्मा का साक्षात्कार किया कहा इनमें ये चिर चिर चिर चिर कर ये बेचारी वो देखो वो बेटी <laughs> ये चर्या चर्या देखो एक आपने दर्पण देखा दर्पण शीशा और जड़ा या सीरियल के सामने एक आगे आगे बैठ और अपना मुंह देखते मारते हैं जोर जोर से मारते हैं जोर जोर से अपना चित्र देखते हैं मुंह फुड़वा रहे हैं नहीं समझी मेरी बात वो दर्पण के सामने बैठ जाता आगे की और मारता है जोर जोर से वो क्या समझ रहा है मेरा शत्रु बैठा है क्यों मारता है क्यों मुंह फड़वा लेता उसकी चौंक कट जाती है मूर्ख व्यक्ति इतनी अकल नहीं है कि मेरा मेरा दर्पण मुंह दिखाई दे रहा सब एक परमात्मा भयंकर योनियों में भेजता रहता है और दुष्टों का दिमाग ठिकाने कर देता है <laughs> तो सारे पापों का फल भोग भोग के भोग भोग के फिर मुंशी योनि में हाँ जी कब आते हैं मुंशी योनि में बोलो खड़े हो खड़े हो जाओ बोलो हाँ अच्छा जो मनुष्य बुरे काम नहीं करता है तो क्या होता है भूल गए उल्टा हो गया भूल गए जब बुरे कर्म अधिक करता है तो खा जाता है और जब अच्छे कर्म बहुत अधिक करता है तो ऊंची मनुष्य और जब बराबर बराबर करता है तो साधारण मनुष्य योनि में जाता है तो परमात्मा ये भाव बैठ जाओ फिर इसको दूसरे ढंग से सोचिए जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसको सीधा परमात्मा ज्ञान देता आनंद देता रहता है और वो ऊपर उठता जाता है और दुष्ट व्यक्ति के लिए न ज्ञान देता न आनंद देता वो वंचित रहता है ये दुष्टों का नाश इस ढंग से होता है ईश्वर की आज्ञा पालन करने वाला उपासना करने वाला सतत ईश्वर से ज्ञान लेता है आनंद लेता है बल लेता है निर्भयता लेता है और इंद्रियों के ऊपर अधिकार कर लेता है दुष्ट व्यक्ति ने ज्ञान प्राप्त कर सकता न आनंद न निर्भयता सदा भयभीत रहता है ये दुष्टों का नाश दूसरे ढंग अब मेरा विधि हाँ, व्यक्ति करे तो सब समस्याओं का समाधान होता है राया हुसा तो जिंदगी है तेरे हवाले अब तो जिंदगी है तेरे हवाले तेरे दर का भीखा जाऊं कहाँ में जिसने पकड़ा है दामन तुम्हारा जिसने पकड़ा है दामन तुम्हारा उसकी किस्मत फिर सोई अवस्था में जीवात्मा जब होता है भूमि का सही मानव जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति करना है और यदि व्यक्ति असावधानी करता है तो उसका समय निकल जाता है और वह व्यक्ति उसी प्रकार से पश्चाताप करता है जैसे किसी संगीत के गाने वाले व्यक्ति को समय दिया जाए कि आप अपना संगीत सुनाइए और वो उस काल में अपने बाजे ढोलक की आवाज को मिलाने में लगा रहे तो उसका निश्चित संगीत का समय समाप्त होता है और वो अपने गीत को गा नहीं सकता और वो प्राश्चित करता है इसी भांति जो व्यक्ति मानव जीवन में ईश्वर की प्राप्ति के लिए समय नहीं लगाता वह भी पश्चाताप करता है अधुना प्यारा गीत वो है प्यारा ढोलक बाजे की आवाज தான் कृपा से मानव का सुंदर चोला जेला नंद प्राप्ति के लिए आलस्य प्रमाद को छोड़ के उसको करें और अपने जीवन को सफल बनाए की इच्छा ईश्वर प्राप्ति में बड़ी सहायक होती है जितनी तीव्र इच्छा होती है उतना ही व्यक्ति प्रयास अधिक करता है और सच्ची ईश्वर की इच्छा होने पर ईश्वर भी साधक को पात्र समझ के अपना लेता है तो साधक की भावनाओं को लेकर कवि ने भजन बनाया शिक्षा नहीं दुनिया में तुम्हारा की तीव्र इच्छा करके जब प्रयास करता है तो उसको सफलता मिलती है अतः ईश्वर की प्राप्ति में तीव्र इच्छा का होना अत्यंत आवश्यक है वासना में तीन कार्य करने होते हैं ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना भजन के माध्यम से भी की जाती है एक साधक प्रार्थना करता है भजन के माध्यम से स्कंद से सचिदानंद से अर्चना है श्रेय पथ पर चलो कामना है ओम सुख कंद से सचिदानंद से याचना पथ पर चलूं कामना है कृत कुकर्मों की जब याद आती चल रहा है देखिए कृत कुकर्मों जीना है पाया नर तन ने पर साधना की कुछ भी नहीं से आराधना की पाया नर तन कुछ भी ने ईश आराधना की मन में तृष्णा भरी काम मत लोभ की वासना है श्रेय पथ पर चलू कामना है सुख कंद से सचिदानंद से याचना है से ये पथ पर चलो कामना है भक्त जन की सुनो करुण कविता भजन की सुनो चलो चारु चंद्र के तुल्य भगवन स्वस्ति पंथा मनुचरे मैं मघवन सूर्य अरुचंद्र के तुल्य पथ पर चलू काम नाहे ओम सुख कंद से सचिदानंद से याचना है श्रेय पथ पर चलू काम नाहे